परम पिता परमात्मा का स्मरण आनंद स्वरूप आनंद के देने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ Oh. प्रेमी सज्जनों परमात्मा को जानने समझने वाले धार्मिक व्यक्ति विभिन्न कामनाओं से युक्त होकर के परमात्मा को पुकारते हैं उसकी स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं विभिन्न प्रकार की कामनाओं में पीछे सुख की प्राप्ति छुपी रहती है चाहे धन संपत्ति मांगे उत्तम स्वास्थ्य मांगे इन सबके पीछे सुख की आनंद की कामना बनी रहती है तो परमात्मा से चाही जाने वाली वस्तुओं में गुणों में सुख या आनंद एक महत्वपूर्ण गुण है परमात्मा को संबोधित करते हुए महर्षि आर्य विनय के प्रथम प्रकाश में लिखते हैं हे सर्वानंद प्रद आनंद प्रद आनंद सुख को प्रद देने वाले आनंद शब्द परमात्मा के सुख के लिए प्राय करके प्रयुक्त किया जाता है समाधि में और मुक्ति में परमात्मा जो हमें सुख विशेष देता है वो आनंद शब्द से कहा जाता है और सुख शब्द को प्राय करके सांसारिक भौतिक इंद्रिय जन्य आनंद के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो संसार में मिलता है उसे सुख और जो परमात्मा से मिलता है उसे आनंद नाम से कहते हैं इस समझने के लिए भेद करने के लिए ऐसा बोला जाता है लेकिन परमात्मा के आनंद को भी सुख शब्द से कहा जा सकता है कहा जाता है और संसार के सुख को भी आनंद शब्द से कहा जाता है परमात्मा को जब हम संबोधित कर रहे हैं हे सर्व आनंद प्रद हे आनंद के देने वाले तो आनंद शब्द का अभिप्राय हमारे मन में या तो परमात्मा का आनंद सुख ये हो सकता है अथवा संसार में भी जो सुख हमें मिलते हैं वह भी हो सकता है चूंकि यहां महर्षि ने सर्व शब्द का प्रयोग किया है सर्व आनंद प्रद सब आनंदों के देने वाले इसका मतलब है वे अनेक आनंदों को यहां पर देख रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं यदि केवल परमात्मा का आनंद ग्रहण किया जाए तो सब आनंद ये बहुवचन का प्रयोग अनेकों का प्रयोग नहीं बनेगा वो तो केवल एक ही है परमात्मा का आनंद इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो संसार के समस्त सुखों को भी आनंद शब्द से ग्रहण करते हुए हम परमात्मा को संबोधित कर सकते हैं हे सर्व आनंद प्रद लौकिक या आध्यात्मिक जो भी सुख हम प्राप्त करते हैं बाह्य इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से अथवा आंतरिक इंद्रिय मन से भी एकाग्रता का संतोष का शांति का सुख समाधि का सुख और परमात्मा का सुख इन सब को देने वाला परमात्मा है हमारा प्रयत्न एक सीमा तक होता है उसके बाद में जो परमात्मा की व्यवस्था से हमें सुख मिलता है इस कारण से परमात्मा को ही उस आनंद और सुख का देने वाला साधक को आर्य को स्वीकार करना चाहिए भोजन हम बनाते हैं खरीदते हैं खाते हैं उससे हमें कुछ सुख आनंद प्राप्त होता है खाते समय भी और खाने के बाद भी आगे भूख लगने तक जो हम बल शक्ति प्राप्त करते रहते हैं भूख के प्रति निरपेक्ष रहते हुए उसकी चिंता न करते हुए अपने अन्य कार्यों को उन्नति को करते रहते हैं ये भी सुख है भोजन के बाद में भूख का कुछ घंटों के लिए निवृत्त हो जाना एक सुख है ये व्यवस्था परमात्मा ने दी है इसलिए परमात्मा इस आनंद को देता है ये हमें साथ में मन में रखना चाहिए और इस अति में भी नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है जब परमात्मा ही सब आनंद को देने वाला है तो हमें कुछ नहीं करना है अपनी सामर्थ्य प्रयत्न के साथ साथ हमारी सामर्थ्य और प्रयत्न के बाद भी जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है उसमें परमात्मा का सहयोग जुड़ा हुआ है ये एक साधक को ईश्वर भक्त को मन में रखना चाहिए जितने सुख हैं उन सब के पीछे परमात्मा छुपा है परमात्मा का सहयोग विद्यमान है ये भाव हमारे मन में रहे यदि आनंद शब्द का अर्थ केवल परमात्मा के सुख को देखते हुए हम करें तो इस शब्द का अर्थ होगा कि परमात्मा अपने समस्त आनंद को संपूर्ण आनंद को देने वाला होता है परमात्मा का जो आनंद है दुख रहित सुख है उसको परमात्मा समाधि में देता है मुक्ति में देता है तो वो उसे पूरा देता है उसका थोड़ा भाग उसकी अल्प मात्रा उसको अल्प स्तर पर देना ऐसा परमात्मा नहीं है परमात्मा अपने आनंद को पूरा पूरा प्रदान करता है इस दृष्टि से इसको देखें तो परमात्मा हमें आनंद देता है उसमें कोई कंजूसी नहीं करता है जब हम परमात्मा के आनंद को पाने के योग्य हो जाते हैं तो उसे पूरा पूरा देता है बचा करके नहीं रखता इस दृष्टि से भी परमात्मा को कह सकते हैं हे सर्व आनंद प्रद और ये इनके प्रद इस शब्द से भी संकेत करता है प्रकर्ष रूप से देने वाला पूरी तरह देने वाला दह भी बोल सकते थे ददाती थी जो देता है लेकिन प्रद प्रद आनंद प्रद प्रकर्ष रूप से देता है अच्छे से अच्छे ढंग से देता है तो अपने आनंद को वो पूरी तरह देता है और जब हम सांसारिक सुखों के संदर्भ में भी देखेंगे तो परमात्मा जो सुख हमें देता है वो प्रकर्ष रूप से देता है प्रकृति का सुख भी जो हम प्राप्त करते हैं वो परमात्मा बहुत अच्छे ढंग से देता है अपनी तरफ से परमात्मा बहुत अच्छे ढंग से देता है इस तरीके से देता है कि उसमें हमारा हित भी छुपा होता है हमारी संतुष्टि भी होती है उससे हमारी प्रगति भी होती है उससे हम पुरुषार्थी होते हैं उससे हम संयमित होते हैं इस तरह वो देता है और उसकी प्रकर्षता इसमें भी छुपी है कि यदि हम उसके विधान के विपरीत इन सुखों को लेंगे उसमें अति करेंगे गलत विधि को अपनाएंगे तो वो हमें नियंत्रित कर देता है कुछ बाधा आएगी ताकि हम रुक सकें और ये परमात्मा इसलिए करता है ताकि इस चूंकि वो अच्छे ढंग से देने वाला है तो अच्छे ढंग से देने वाले का ये कर्तव्य भी साथ में बन जाता है कि जो सुख लेने वाला है वो ठीक सुख ही लेता रहे गलत ढंग से लेगा तो उसको रोक देगा ऐसी व्यवस्था बना रखी कि हम स्वयं उससे समझ सकते हैं यदि समझना चाहें तो तो परमात्मा प्रद प्रकर्ष रूप से देता है जब हम समस्त सुखों की बात करेंगे भौतिक आध्यात्मिक सबको वो अच्छी तरह देता है और परमात्मा के आनंद की बात करेंगे केवल तो उसको भी वो पूरा पूरा अच्छी प्रकार से देता है सर्व आनंद प्रद इसको एक तीसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं पहले हम परमात्मा को देखेंगे आनंद प्रद आनंद को देने वाला और अब इस अर्थ को करते हुए आनंद के दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं जो पीछे दो किए लौकिक आध्यात्मिक दोनों यानी सब मिला के और अथवा एक एक भी तो परमात्मा आनंद को देने वाला है आनंद प्रद है और अब जो सर्व शब्द है उसको हम कहेंगे सर्वेभ्य आनंद प्रद सबको आनंद देने वाला है हे सर्व आनंद प्रदा न केवल मेरे को न केवल किसी विशेष योगी को न केवल किसी महापुरुष को न केवल किसी विशेष आत्मा को प्रत्येक आत्मा को परमात्मा आनंद देने वाला है सर्वेभ्यो आनंद प्रदा सबके लिए आनंद देने वाला है बहुत बार इस समाज में रहते हुए हम जिस प्रारंभिक स्तर में हैं अल्प धन अल्प बल अल्प साधना और अपने से बहुत बड़े बड़े ज्ञान वाले बल वाले साधना वाले व्यक्तियों को देखते हैं सुख सुखी लोगों को देखते हैं और अपने जीवन में उससे ऊपर उठने का कोई साधन भी दिखाई नहीं देता है कि मैं कुछ भी कर लू मैं उस ऊंचाई को नहीं पा सकता जिसको ये अन्य लोग प्राप्त कर चुके हैं गुणों के स्तर पर भी व्यक्ति सोचने लगता है कि ये जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं साधक हुए हैं योगी हुए हैं मेरे में तो बहुत दुर्गुण है मैं हटाए नहीं हटा पाता इनको तो मैं ऐसा बन ही नहीं सकता तो सोचते सोचते व्यक्ति अपने को एक सीमा पर बांध लेता है कि मैं इन सबको नहीं प्राप्त कर सकता और चूंकि इस जन्म में भी प्राप्त नहीं कर सकता तो अगले जन्म के लिए भी वो ऐसा ही बना लेता है मैं तो ऐसा ही हूं मेरी सामर्थ्य ही ऐसी है लेकिन जब साधक परमात्मा को हे सर्व आनंद प्रदाय इस रूप में देखता है परमात्मा सबको आनंद प्रदान करता है ये अलग बात है कि यथा सामर्थ्य प्रदान करता है यथा योग्य प्रदान करता है ये समझ भी साधक को ईश्वर भक्त को रखनी ही होती है लेकिन संभावना के रूप में परमात्मा सबको आनंद प्रदान करता है कम आनंद थोड़ा आनंद तो सबको दे ही रहा है वो सबके लिए व्यवस्था कर ही रखी है लेकिन उच्च स्तर पर भी जो आनंद उसका होता है जो व्यवस्था उसकी होती है वो भी सबके लिए है ईश्वर के आनंद का प्रकर्ष रूप से दान भी सबके लिए है वो मेरे लिए भी है परमात्मा की दृष्टि में मूलतः प्रत्येक आत्मा समान है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे निर्धन हो चाहे धनी हो ज्ञानवान हो अज्ञानी हो मूलतः हर आत्मा के लिए मनुष्य या अन्य प्राणी सबके लिए परमात्मा आनंद को देने वाला है परमात्मा इस भावना से युक्त है जब ये भाव साधक के मन में धार्मिक के मन में आएगा तो फिर वो सोचेगा कि फिर सबको क्यों नहीं मिल पा रहा है उन कारणों पे जाएगा अपने उन कारणों पे जाएगा मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को उस स्तर का आनंद समाधि का आनंद क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को जितना मिल रहा है अन्यों को इससे कम क्यों मिल रहा है जब वो इस विवेचना को कारणों को देखेगा विवेचना पूर्वक कारणों को देखेगा तो फिर सत्य मार्ग पर स्थिर हो जाएगा ऐसा करना है ऐसा विचारना है ऐसा ज्ञान करना है और इस मार्ग पर बढ़ते बढ़ते परमात्मा के उस परम आनंद को भी वो प्राप्त कर सकता है और जब हम परमात्मा को इस रूप में देखते हैं कि वो सबको आनंद देता है तो हमारी दृष्टि भी अन्यों के प्रति समान बनती है यथा योग्य व्यवहार रखते हुए भी एक समान दृष्टि रखी जा सकती है जब परमात्मा सबको आनंद देने वाला है सबको समान दृष्टि से देखता है यथा योग्य देखते हुए भी यथा योग्य व्यवहार करते हुए भी तो मैं भी देख सकता हूं मुझे भी ऐसा करना चाहिए जो अति उच्च है उनको देख करके अपने में हीन भावना नहीं लाएगा इन्होंने साधना की है ये आज इस स्तर पर हैं मैं भी करूंगा मैं भी पहुंच जाऊंगा और अपने से निचलों को देख करके अभिमान अहंकार अपने अंदर और दूसरों के प्रति हीन भावना उपेक्षा भाव वो नहीं लाएगा तो परमात्मा सर्व आनंद प्रद है सबको आनंद देने वाला है अगला संबोधन दिया सकल दुख विनाशक आनंद के विपरीत शब्द दुख ग्रहण कर सकते हैं जितना भी दुख है सकल उसका जो एक लेश है उसकी जो एक कला है सब कलाओं सहित सब अंशों सहित सकल समस्त दुखों का विनाशक परमात्मा है उनको नष्ट करने वाला है उनको समाप्त करने वाला है यहां भी भक्त ठीक ढंग से इस शब्द का अर्थ समझे तो यही उसको प्रेरणा का कारण बनेगा और यदि इसका ठीक ढंग से अर्थ ना समझे तो ये उसको उलझाने वाला भी बन जाएगा परमात्मा सकल दुख विनाशक है इसका मतलब है परमात्मा ने समस्त दुखों को मिटाने की व्यवस्था कर रखी है हमें ऐसे साधन दे रखे हैं हमें ऐसा ज्ञान दे रखा है ऐसी बुद्धि दे रखी है परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हम समस्त दुखों को हटा सकते हैं परमात्मा स्वयं हमारे प्रयत्न के बिना हमारे दुखों को हटाए ऐसा अर्थ भी कोई इससे ले सकता है और पुरुषार्थहीन हो सकता है परमात्मा पर विश्वास कर रहा है चूंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि परमात्मा सकल दुख विनाशक है तो जब परमात्मा सकल दुख विनाशक है तो मुझे क्या करना है वही करेगा और अपने को करने के लिए भी कुछ होगा तो केवल प्रार्थना होगी जब वो सकल दुख विनाशक है इतना शक्तिशाली है सामर्थ्य से युक्त है तो मैं उसको प्रार्थना करता हूं उसकी स्तुति करूंगा और उससे मेरे समस्त दुख निवृत्त हो जाएंगे ये एक गलत दृष्टि आ जाती है और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते या संदेह है उससे इससे भी विपरीत अर्थ ले सकते हैं यदि परमात्मा सकल दुख विनाशक है तो संसार में दुख क्यों है फिर परमात्मा समर्थ है सकल दुख को हटा सकता है तो दुख नहीं होने चाहिए परम इस संसार में लेकिन दुख देखे जाते हैं तो इस निश्चय पे पहुंचता है कि इसका मतलब है परमात्मा दुखों को दूर नहीं करता है और सकल दुखों को तो दूर करता ही नहीं है हो सकता है कुछ दुखों को दूर करता हो लेकिन दुख मेरे जीवन में है दुख अन्यों के जीवन में है दुख से रहित कोई व्यक्ति नहीं है किसी देश का किसी आयु का किसी लिंग का किसी व्यवसाय पेशे का सब दुखी है तो या तो परमात्मा है नहीं और है तो वो सकल दुख विनाशक नहीं है इस पर वो पहुंच सकता है तो परमात्मा दुखों का विनाशक है कैसे है ये हमें ध्यान रखना चाहिए परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है एक बात और दूसरा जब हम कर्म करते हैं कर्म करके जो हमें फल प्रदान करता है न्याय करता है ये भी हमारे दुखों को निवृत्त करने के लिए करता है हमें अच्छे कर्मों का और अधिक फल अच्छा अधिक योग्यता अधिक साधन देता है ताकि हम बचे हुए दुखों को भी दूर कर सकें और जो हमने दोष किए हैं जिनके कारण हमें दंड देगा और वो दुख भी होगा वहां पर वो दुख भी दुख को मिटाने के लिए उस दुख को हटाने के लिए परमात्मा ने जैसे सुख के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं ऐसे दुख से हटाने के लिए भी व्यवस्थाएं कर रखी साधन के रूप में तो है ही लेकिन जब जब हम कुछ गलत करेंगे तो दुख आएगा विपरीतता होगी प्रतिक्रिया विपरीत होगी और उस दुख को देख करके हम उससे बचेंगे संसार में जो दुख की व्यवस्था परमात्मा ने दी है वो दुखी करने के लिए नहीं है दुख से बचने के लिए है यदि अधिक भोजन करने से कुछ बाधा होती है तो बाधा वो कष्ट केवल हमें पीड़ित करने के लिए नहीं है कि हमने अधिक खाया है तो उसका दंड परमात्मा दे रहा है हम एक दृष्टि से ऐसा सोचते हैं किंतु परमात्मा की दृष्टि इसके साथ में उसको आत्मा को बचाने की है जैसे रास्ते में चलते हुए दोनों तरफ बाढ़ लगाई जाती है या कांटे के तार लगाए जाते हैं कि उधर जाए तो व्यक्ति रुक जाए इधर आ जाए वो कांटे के तार चुबाने के लिए नहीं होते कि वो चाहते हैं कि लोग आए और यहां पर चुभे इनको और दुख हो ये प्रयोजन नहीं होता है हम चाहे अधिक सोएंगे तो दुख होगा हम अधिक मेहनत करेंगे दुस्साहस करेंगे तो दुख होगा धर्म के विपरीत आचरण करेंगे अशांति होगी इसको हम एक दृष्टि से परमात्मा का दंड देखते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दिया है यानी हमें पीड़ित करना चाहता है क्योंकि हमने <clears throat> क्योंकि हमने उसकी आज्ञा का भंग किया है इसलिए वो हमें ये दुख दे रहा है क्योंकि हमने अनुशासन का भंग किया है इसलिए वो दुख दे रहा है ये एक दृष्टि है और जब व्यक्ति केवल यही सोचने लग जाता है तो वो उन दुखों को भी सहन करने लग जाता है वो सोचता है कि ऐसा करूंगा परमात्मा ये दंड देता है ठीक है कोई बात नहीं उन दुखों से बचने का वो उपाय करता है फिर ऐसा भोजन किया जिससे उसको जलन हो रही है पेट में विशेष स्वाद के लिए वो भोजन कर लिया अब सोच रहा है कि परमात्मा ने दंड दिया ऐसी व्यवस्था कर रखी है तो बोले उसका मैं उपाय कर लूंगा ऐसी औषधि ले लूंगा जिससे वो जलन समाप्त हो जाए अम्लता समाप्त हो जाए ऐसी औषधि भी खोज ली गई और उस उपाय के कारण वो बार बार वही करेगा वही समस्या होगी और औषधि ले लेगा क्योंकि पुरुष प्रयत्न करेगा मनुष्य प्रयत्न करेगा बाधा आई है तो उसे हटाने का प्रयत्न करेगा वो करना भी चाहिए अगर ऐसा होता है तो लेकिन यदि हमारी दृष्टि वहां ये है कि इसके करने से ये जो कष्ट आया है इस भोजन से ये जो कष्ट आया है इस कर्म से जो ये कष्ट आया है ये कष्ट हमें इस कर्म से बचाने के लिए है हमें संकेतक है सूचक है ये घंटी बजा रहा है कि हमें इससे बचना है परमात्मा ने इसलिए ये दिया है अब जब इस दृष्टि से देखेंगे तो जो दुख हमें प्राप्त होता है जिसको देख करके कोई कह सकता है कि परमात्मा दुख विनाशक कहा है परमात्मा तो दुख दाता है जब आप कहते हैं परमात्मा की व्यवस्था से ये सारे सुख मिलते हैं तो ये दुख भी तो परमात्मा की व्यवस्था से मिल रहे हैं परमात्मा दुख दाता भी है लेकिन एक भी संबोधन इस रूप में नहीं कि परमात्मा दुखी करता है दुखी करने के लिए दुखी करता है परमात्मा सर्व दुख विनाशक है परमात्मा के द्वारा दुख का दिया जाना इन संकेतों का दिया जाना दुख से बचाने के लिए और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसा खाने से ये बढ़ गया है दस्त हो गए तो ये गोली ले लूंगा लेकिन इस स्वादिष्ट चीज को खाऊंगा ऐसा करते हुए भी वो तात्कालिक लाभ तो कुछ प्राप्त कर सकता है लेकिन आगे चल करके उसको हानि ही होगी ऐसा भोजन कर रहा है जिससे रक्तचाप बढ़ रहा है और फिर गोली गोली और लिए जा रहा है तो आगे चल के हानि होगी और औषधियों के माध्यम से भी हम एक सीमा तक ही सीमित रख सकते हैं अधिक हानि वहां पर होगी औषधियां इसलिए हैं कि जब कभी ऐसा हो जाए भूल से हो जाए तो उसको ठीक किया जा सके औषधि असंयम के लिए नहीं है औषधि को असंयम के लिए कोई ले सकता है और इस तरह की चिकित्साएं होने भी लगती हैं चिकित्सक भी कहता है आप ये लेते रहिए और जो खाना पीना है खाइए पिए पीजिए ये वैदिक दृष्टि नहीं है जिस कारण से वो हुआ है वो उससे हम बचें परमात्मा का उद्देश्य यही है जब भी हम झूठ बोलते हैं तो मन में जो बेचैनी होती है वो इस रूप में दंड के लिए नहीं है कि हम पीड़ित हों उससे उसमें सुधार की परमात्मा की कामना है कि ताकि हम भविष्य में इस दुख से बच सकें इस गलत कार्य से बच सकें और जो हमें तात्कालिक थोड़ा सा दुख होता है अंदर असहजता होती है अशांति होती है ये उसका पूरा पूरा फल नहीं है फल तो वो बाद में देगा और बड़े बड़े फल देगा दंड देगा यदि हम किसी की हानि करते हैं दुख ये तो संकेत मात्र है हमें ठीक रास्ते पे लाने के लिए तो इस संसार में जो दुख है वो भी हमें आनंद को प्राप्त कराने के लिए सुख को प्राप्त कराने के लिए है दुख से बचने के लिए है ऐसी संवेदना ऐसी बुद्धि इंद्रियां परमात्मा ने दी हैं तो परमात्मा सर्व आनंद प्रद भी है और सकल दुख विनाशक भी है परमात्मा के इन गुणधर्मों को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ